आज पढ़ो अपने अपने आसन की स्थिति देख लें आज पढ़ो आसन को स्थिर कर लें नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें पैर से लेके सिर तक शरीर को शिथिल कर दें शरीर की अनुकूल स्थिति का समग्रता से अवलोकन करें उसकी पहचान बनाए आज की उपासना के लिए संकल्प करें आप मन को दोनों नथनों पर केंद्रित करें आते जाते श्वास का अनुभव श्वास को धीमा लंबा लयबद्ध बनाएं नियंत्रण के साथ श्वसन और उसकी अनुभूति बिल्कुल धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें तीन बाह्य प्राणायाम श्वास को पूरा भरकर तेजी से बाहर निकाल दें मूल पंथ लगाएं श्वास को घबराहट होने तक यथाशक्ति रोके रखें थोड़ा सहन करें सामर्थ्य पूरा होने पर श्वास भर लें और दो तीन सामान्य श्वास इसी प्रकार दूसरा और तीसरा प्राणायाम प्राणायाम का मन पर क्या प्रभाव पड़ा आगे प्रत्याहार का संपादन इंद्रियों को बाहर से रोके रखते हुए मन को अंतर गहराई में अंतर ही अंतर ले जाएं बाह्य विषयों से विमुख अंतर्मुखी स्थिति इंद्रिय के संपर्क में बाह्य विषय आता है तो तत्काल उपेक्षित कर दें धारणा स्थल लगाएं मन को धारणा स्थल पर केंद्रित कर दें संवेदनाओं को पकड़ते हुए मन को धारणा स्थल पर टिका दें मन को धारणा स्थल पर टिकाए रखते हुए ओम का जप और दयालु अर्थ की भावना न्यायकारी ईश्वर दयालु है ओम का जप हे ईश्वर आप दयालु हैं मेरे प्रति किया गया आपका प्रत्येक व्यवहार आपकी मुझ पर दया है पुण्य का फल जब आप देते हैं वह भी आपकी दया है और मेरे सुधार के लिए मेरे पाप कर्मों का जब दंड देते हैं वह भी आपकी दया है आगे बढ़ने के लिए आप प्रोत्साहित करते हैं ये आपकी दया है पाप कर्मों से बचाने के लिए आप दंड देते हैं यह भी आपकी दया है हे प्रभु आप दयालु हैं Oh. जप अर्थ की भावना ईश्वर की विभिन्न दयाओं को मन में रखते हुए उसे दयालु देखें ओम का मानसिक जप और केवल दयालु अर्थ की भावना कविता के माध्यम से दयालु ईश्वर का स्मरण प्रार्थना मेरी धुन को सुनने के बाद बोल सकें तो बोलें नहीं तो मौन भावना रखें ईश्वर तुम दया करो तुम बिन हमारा कौन है ईश्वर तुम दया करो दीनता हरो दुर्बल दीनता हरो तुम बिन हमारा कौन है तुम बिन हमारा कौन है ते तेरा भजन तेरा मनन तेरी ही धुन तेरी लगन तेरा भजन तेरा मनन तेरी ही धुन तेरी लगन तेरी शरण में आए हम तुम बिन हमारा कौन है तेरी शरण में आए हम तुम बिन हमारा कौन तेरी दया को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर तेरी दया को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर जाए तो जाए हम किधर तुम बिन हमारा कौन है जाए तो जाए हम किधर तुम बिन हमारा कौन है ईश्वर तुम्हें दया करो तुम बिन हमारा कौन है ईश्वर तुम्हें दया करो तुम बिन हमारा कौन है हमारा कौन है दयालु ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव अब धीरे से रुकेंगे आगे गायत्री मंत्र प्रभु से सद्बुद्धि सत्प्रेरणा की प्रार्थना पिछली उपासना से लेकर इस उपासना तक किए गए योगाभ्यास को पुरुषार्थ को स्मरण रखते हुए ईश्वर से प्रार्थना हे प्रभु आपकी आज्ञाओं के अनुरूप मैंने आज पुरुषार्थ किया है मैं आपकी प्रेरणाओं को आगे भी चाहता हूं Oh. Uh. ईश्वर की सत्प्रेरणाओं में अपना कल्याण देखें धीरे से रुकेंगे आगे वैदिक संध्या के माध्यम से ध्यान उपासना ईश्वर से प्रार्थना ईश्वर की स्तुति आगे बढ़ने से पूर्व अपनी स्थिति का अवलोकन कर दें शारीरिक और मानसिक यदि कुछ छूट गया हो तो फिर से स्थिति बना लें पूरी जागरूकता से विधि पूर्वक ध्यान का अभ्यास जिस जिस विषय की प्रार्थना मंत्र में आए उस प्रार्थना के पूर्व उस विषय में अपने किए गए पुरुषार्थ को स्मरण रखें पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना यदि उस विषय में पुरुषार्थ न किया हो तो भावी पुरुषार्थ के संकल्प के साथ प्रार्थना कृपा वृष्टि की प्रार्थना अपने द्वारा किए गए सदुपयोग को स्मरण रखते हुए प्रार्थना Oh. आगे इंद्रियों अवयवों की सबलता की प्रार्थना मन को उस उस इंद्रिय पर लेते चले ओ चक्षुः चक्षुः एक एक अवयव की पवित्रता की कामना इनके द्वारा आज किए गए पवित्र कर्मों के स्मरण पूर्वक और पवित्रता की प्रार्थना ओ शिरसि पुनातु सर्वत्र अपने को पवित्र स्थिति में देखें इंद्रियां पवित्र कर्मों को ही करने वाली देखें प्राणायाम मंत्र ओ शरण मंत्र परमात्मा की सर्वशक्तिमत्ता को मन में रखते हुए अपने किसी विशिष्ट गलत कर्म को जो आज दिन में हो गया है अथवा कुछ ऐसे गलत कर्म हो गए हैं दुर्भावना मन में आई हो उसे स्मरण रखते हुए उसे क्षीण करेंगे अथवा पहले का कोई कर्म जो अभी क्षीण नहीं हुआ है उसकी स्मृति लाकर ईश्वर की सर्वसक्षम शक्तिमत्ता के सामने देखेंगे और उसे दूर होता हुआ देखेंगे जिन्हें मंत्रों का अर्थ याद है वे अर्थ की भावना साथ में करते चलेंगे अन्य व्यक्ति ईश्वर की सर्वशक्ति मत्ता को मन में रखेंगे भी था तपसो मात्रा शतो वशी सूर्याचन्दमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् देवञ्च पृथिवीं च शमतो स्वः अघमर्षण पाप से दुर्भावना से छुटकारे का प्रयास अब पुनः एक बार ईश्वर की कृपा सांसारिक और मुक्ति की प्राप्ति के लिए सांसारिक उन्नति और मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की कृपा अपेक्षित है पापों को क्षीण करता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूं हे प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें ओ परिक्रमा एक एक करके छहों दिशाओं में ईश्वर की विभिन्न शक्तियों का सामर्थ्यों का स्मरण अधिपति और रक्षक परमात्मा को नमन जिसके प्रति द्वेष की भावना है अपनी द्वेष भावना को और उस व्यक्ति को भी ईश्वरीय न्याय व्यवस्था पर छोड़ते हुए अपने को द्वेष से मुक्त होता हुआ मानसिक रूप से देखें जिन्हें मंत्र अर्थ सहित स्मरण है वे अर्थ का चिंतन साथी करते चलेंगे अन्य व्यक्ति समस्त दिशाओं में समस्त गुणों से युक्त ईश्वर की स्मृति बनाए रखते हुए उसको नमन करते हुए अपने को द्वेष से दूर जाता हुआ देखेंगे प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः ते यो नमो दीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु

रक्षिता हितर ईशवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमः एभ्योऽस्तु योऽस्मान्देष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदत्मः वरुणोऽधिपतेः प्रेता को रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नम एभ्योऽस्त योऽस्मान्देष्टियं वयं विष्मस्तं वोचं भेदत्मः उति चेतिक्षोमधिपतेः स्वजो रक्षिता शनि शनिरिषवः तेभ्यो नमधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्देष्टियं वयं आत्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतेः कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुथ ईशव तेभ्यो नमो श्रीपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्देष्टियं वयं विष्मस्ताम् पते क्षेत्रो रक्षिता वर्ष वर्षमीशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो योऽस्मान्देष्टियं वयं दिश्मस्तङ्गोचं भेदत्मः अनंत अनंत गुणों से युक्त परम पिता परमात्मा छहों दिशाओं में विद्यमान है वही इन सब का अधिपति है स्वामी है वही सबका रक्षक है ऐसे परमपिता परमात्मा को मैं नमन करता हूं जिसके प्रति आज देश उत्पन्न हुआ हो उसका चित्र विषय सामने लाकर उसे परमात्मा की न्याय व्यवस्था में जपड़े में छोड़ दें और स्वयं को उस द्वेश से पृथक देखें द्वेष से रहित स्थिति में तनाव मुक्तता शांति संयम आत्मसंतोष का भाव किसी व्यक्ति विशेष से घटना विशेष से अधिक द्वेष हो उसे भी सामने लाकर दूर करने का यत्न करें उसे ईश्वरीय न्याय व्यवस्था पर छोड़ दें आप धीरे से रुकेंगे अपनी अपनी उपासना ध्यान का निरीक्षण करें अवलोकन करें आज कैसी उपासना रही अच्छे अंशों के लिए ईश्वर को धन्यवाद और स्वयं का उत्साहवर्धन संतोष का अनुभव मैंने संकल्प के अनुरूप जागरूकता से उपासना की न्यूनताओं के लिए अपने प्रति खेद प्रकट करते हुए आगे अच्छी उपासना का अच्छे ध्यान का निश्चय करें अब आज के ध्यान की ऊंचाइयों का गहराइयों का स्मरण करें आज किन विशेष स्थितियों को अनुभव किया उन सात्विक श्रेष्ठ क्षणों को समग्रतया स्मरण करें और वही स्थिति अपनी देखें इस आंतरिक स्थिति को बनाए रखते हुए धीरे धीरे हाथ की अंगुलियों में गति दें नेत्रों को बंद रखें हाथों को दूसरे स्थान पर ले जाएं, धीरे धीरे हाथों को पीछे की ओर टिकाकर सहारा ले लें पैर की अंगुलियों को गति प्रदान करें धीरे धीरे टखनों के भाग को गति दें घुटनों को धीरे धीरे खोल लें दूसरे को स्पर्श ना हो इस तरह यदि पैर फैला सकें तो फैला लें पैरों को थोड़ा सक्रिय कर लें अब नेत्रों को थोड़ा खोलकर दृष्टि नीचे रखते हुए आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए संतुलन के साथ धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे नेत्रों को पुनः बंद कर लें अभिवादन मुद्रा की पंक्तियां दोहराएंगे प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा मन अर्पण है सारा बड़े चले हम रुके न क्षण भी बड़े चले हम रुके न क्षण भी हो यह दृढ़ संकल्प हमारा हो यह दृढ़ संकल्प हमारा हो यह दृढ़ संकल्प हमारा आंतरिक स्थिति को जितनी अधिक देर बनाए रख सकें बनाए रखें अंतर्मुखी रहते हुए नेत्रों को थोड़ा थोड़ा खोल लें दृष्टि नीचे रखते हुए धीरे धीरे आगे के लिए प्रस्थान करेंगे भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे ओम शम